वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतला सुजलां सुफलां मलयज जीतला शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम खिलाफत और असहयोग आंदोलन आप लोग कृपया शांत हो जाएं। अब आपके सामने गांधी जी अपने विचार प्रकट करेंगे महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इस समय हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी हम पर बहुत जुल्म हो रहे हैं जब जी चाहता है ब्रिटिश सरकार हमारे नेताओं को जेलों में ठूंस देती है हमें बोलने नहीं दिया जाता चाहे हम शांति से अपनी बात कहना चाहें हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है हम अब जुल्म नहीं सहेंगे हम अन्याय का सामना करेंगे वो हमारा मुंह बंद करें या हमें जान से मार डालें अब हम उनके अत्याचार नहीं सहेंगे हाँ हाँ हम अब ईट का जवाब पत्थर से देंगे देखिए देखिए शांत हो जाइए शांत हो जाइए हमें धैर्य से काम लेना है धैर्य से क्रोध से कोई काम नहीं हो पाता मैं आप सबसे वायदा लेना चाहता हूं कि आप सब सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही स्वराज्य की बात करेंगे हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में गांधी जी के आगमन से नई चेतना फैली उन्होंने देश में असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान किया उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को किसानों को और मजदूरों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उत्साहित किया सभी की नजरें महात्मा गांधी पर टिकी थीं और गांधी जी निरंतर सत्य और अहिंसा का हथियार लिए स्वराज्य की ओर बढ़ रहे थे इस समय देश 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और पंजाब में हुए हत्याकांड की वजह से विचलित था लेकिन इसी समय पहले से चले आ रहे खिलाफत के प्रश्न ने भी देश के जख्मों को और गहरा करना शुरू किया महात्मा गांधी ने इन तीनों प्रश्नों को यानी पंजाब की ज्यादती 1919 एक्ट और खिलाफत को एक साथ लेकर एक आंदोलन का आह्वान किया इस आंदोलन में भारतीयों से विदेशी सरकार के साथ सहयोग न करने की अपील की गई यह असहयोग आंदोलन पंजाब की बर्बरता और 1919 के एक्ट का जवाब था यह सहयोग आंदोलन खिलाफत के प्रश्न का कारण था जनता का आक्रोश बढ़ रहा था लाहौल विला कुवत ये कैसा वक्त आ गया है हाँ साहब लगता है हम हम नहीं कोई जानवर हैं अरे अंग्रेजों ने तो जानवर भी नहीं समझा हमें हम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और अब तो मजहब पर भी क्या बकवास है यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते अब देखिए ना मियाँ आप हिंदू हैं और मैं मुसलमान ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं पर अंग्रेज ये अंग्रेज तो जी सुना नहीं आपने गांधी जी ने क्या कहा अरे उस फरिश्ते ने कहने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी पर अंग्रेज तो गांधी जी ने कहा है हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी अहिंसा के बल पर हाँ भाई गांधी जी खुद हिंदू होते हुए भी हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या बात करते हो मौलाना यह लड़ाई किसी खास कौम की नहीं बल्कि पूरे आवाम की लड़ाई है या खुदा हिंद के सारे मुसलमानों ने लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने खिलाफत के खलीफा को भी हटा दिया गांधी जी से तो हमारी यही गुजारिश है कि वो खलीफा को बहाल करवाएं सभी मुल्कों में हमारे मजहब की पाक जगहों को छावनी न बनने दिया जाए ठीक कहते हो भाई जिस तरह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने तुर्की के हिस्से बांटे थे उससे तो यहाँ के मुसलमान तड़प उठे थे लड़ाई लड़े पर मजहब को तो बीच में न लाए खिलाफत जैसे संगठन पर क्यों ये अंग्रेज अपनी भद्दी करतूतों के शिकंजे गड़ाए हैं अब तो असहयोग आंदोलन का ही सहारा है हम इस फिरंगी सरकार से किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे देखते हैं कब तक ये हमारी जमीन पर टिके हैं नहीं टिकने देंगे हम इन्हें हमारा कोई बच्चा सरकारी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाएगा हम किसी सरकारी अदालत में नहीं जाएंगे और क्या अरे क्या हमारी ये पंचायतें बुरी हैं और मियां असहयोग आंदोलन में सुना है सभी सरकारी नौकरों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं और जनाब विदेशी सामान का बहिष्कार भी हो रहा है जब इन अंग्रेजों का सामान ही ना बिकेगा तब ये हिलेंगे तो सही और हमारे भाइयों को बनाया माल बाजार में बिकेगा हमारी नजरें तो गांधी जी पर टिकी हैं देखें क्या होता है गांधी जी के साथ हम सब एक हैं बस इशारे की जरूरत है अब तक मैं पंजाब में निरीह लोगों पर हुए अत्याचारों के बारे में ही सरकार से लड़ता आ रहा था लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों के धार्मिक स्थानों को लेकर जो चालाकी ब्रिटिश सरकार ने की है उसे देखकर लगता है इन लोगों के मन में न दया है और न ही किसी धर्म की इज्जत मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप हिंदू और मुसलमान अब इस सरकार से एक होकर लड़ें हम लड़ने को तैयार हैं आप हुक्म करें आप हमारे नेता हैं आप ही हमें रास्ता बताइए मैं चाहता हूं पंजाब और खिलाफत को एक ही मानकर आप सब सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन करें ठीक है हमें मंजूर है आप जो कहेंगे हम करेंगे तो भाइयों आओ हम मिलकर लड़ाई लड़ें बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय और इधर हिंदू और मुसलमानों की एकता से अंग्रेजी सरकार तिलमिला उठी और फिर इनमें फूट डालने के उपाय सोचने लगी जुलाई सन 1920 के दौरान गांधी जी शौकत अली डॉक्टर किचलू चौधरानी सरला देवी और अन्य प्रमुख नेताओं ने उत्तर भारत का दौरा किया लोगों में जोश था मर मिटने की तमन्ना थी परिणाम स्वरूप भारी संख्या में भारत के सभी स्थानों से आम हड़तालों के साथ असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ महात्मा गांधी जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद गांधी जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया गया भाइयों और बहनों कांग्रेस के इस अधिवेशन में हमें कई प्रश्नों पर विचार करना है देश के विभिन्न स्थानों से लगभग दो लाख उत्साही प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं हमें खुशी है कि महिलाएं भी हमारे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं महात्मा गांधी जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद हमारे अध्यक्ष हैं श्री विजय राघवाचार्य हमारे प्रिय नेता महात्मा गांधी सबसे पहले आपके सामने बोलेंगे महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय गांधी की महात्मा गांधी की भाइयों और बहनों अन्याय को दूर करने के लिए हमने असहयोग आंदोलन चलाया है हमारा मुख्य उद्देश्य है स्वराज पाना हमें भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा हमें अपने अधिकारों को स्वयं प्राप्त करना होगा ब्रिटिश सरकार झूठे वादे करके अपना विश्वास खो चुकी है अगर मेरे दिल में आग है और अगर वही आग आपके दिल में भी है तो आइए हिंदू और मुसलमान भाइयों एक साथ मिलकर प्रण करें कि अब हमें गुलामी नहीं करनी हमें स्वराज्य चाहिए स्वराज्य हम लेकर रहेंगे हम आपके साथ हैं हमें स्वराज्य चाहिए कृपया आप लोग शांत रहें जो असहयोग आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया है उसके लिए कुछ प्रस्ताव इस तरह पास किए गए हैं छात्रों से स्कूल छोड़ने और कॉलेज छोड़ने की अपील वकीलों से अदालतों में काम बंद करने की अपील व्यापारियों से विदेशी माल का बहिष्कार करने और स्वदेशी और हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करने की अपील हम सभी फिरंगी सेना में भर्ती होने से इनकार करें हमारी बहनें शराब की दुकानों पर धरना देंगी विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए असहयोग आंदोलन का असर देश भर में पड़ा लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया गांधी जी देश भर में उत्साह और उमंग का मंत्र फूंकते अली बंधुओं जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं के साथ झांसी पहुंचे मैं हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भेद नहीं मानता बिल्कुल नहीं मानता खिलाफत के मामले में मुसलमानों के साथ जो अन्याय हुआ है वो पंजाब के अत्याचारों से कम नहीं है सरकार से किसी प्रकार के सहयोग की हमें आशा नहीं है आप सब मिलकर एकता का व्रत लें महात्मा गांधी देश के युवा नेता जवाहरलाल नेहरू भी महात्मा गांधी के साथ आजादी की लड़ाई का जोश भर रहे थे हमें किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए आजादी के लिए हम मर मिटेंगे जलियावाला बाग में नियत लोगों को गोलियों से भून दिया गया गरीब लोगों पर ज्यादतियां बढ़ती ही जा रही हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे 1921 का वर्ष हड़तालों और आंदोलनों का वर्ष रहा मालगांव गिरिडीह बंबई और अन्य स्थानों में अंग्रेज सरकार के बढ़ते हुए अत्याचारों से बहुत से लोग शहीद हुए किंतु भारत की जनता अब बलिदान देने की ठान चुकी थी अपनी असफलता से चिढ़कर सरकार ने आंदोलन के नेताओं को जेल में ठूसना आरंभ कर दिया इससे जनता और भड़क गई असंतोष और क्रोध से उफनती जनता बेकाबू होने लगी सरकार का अत्याचार बढ़ता जा रहा था गांधी जी जनता को शांति से रहने का उपदेश देते रहे वे जानते थे सरकार के अत्याचारों के बदले यदि जनता भी हिंसक हो गई तो निहत्थी जनता ही मारी जाएगी पांच फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा की पूरी घटना इस प्रकार थी उस दिन करीब हजार निहत्थे गांव वालों की भीड़ नारे लगाती हुई जा रही थी जिसे देखकर चौरा चौरी थाने के सिपाही बाहर निकल आए सिपाहियों ने जनता को तितर बितर हो जाने का आदेश दिया जनता ने सत्याग्रह के सिद्धांत के अनुसार तितर बितर होने से इनकार कर दिया इस पर पुलिस के सिपाहियों ने भीड़ पर गोलियों की बौछार की और तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई कुछ ही घंटों में एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए और बहुत से घायल हो गए सिपाही गोलियां चलाकर थाने के अंदर घुस गए इस गोली कांड से जनता में आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने थाने को घेर लिया और फिर थाने में आग लगा दी जिसमें 18 पुलिस के आदमी मारे गए गांधी जी इस घटना के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुए हे राम चौरी चौरा में जो कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक है सत्य और अहिंसा की नीति को छोड़कर आंदोलन नहीं चलाया जा सकता लेकिन अत्याचारों को हम कब तक चुप रहकर सहते रहेंगे गांधी जी हम खून का बदला खून से लेंगे हाँ हाँ हम उन्हें सबक सिखा देंगे देखिए देखिए आप लोग उत्तेजित न हो आप जानते हैं सबका परिणाम क्या होगा हमारी माताओं और बहनों को बेइज्जत किया जाएगा गरीब और असहाय लोगों पर अत्याचार और भी बढ़ जाएगा मैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शांति न छोड़ें मैं आप सब से आग्रह करता कि आप सब रचनात्मक कार्यक्रमों में अपना समय लगाएं खादी का प्रचार करें राष्ट्रीय स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दें मैं इस असहयोग आंदोलन को यहीं बंद करना चाहता हूं चौरी चौरा के कांड के लिए मैं पांच दिन का उपवास रखूंगा गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के फैसले से नेताओं को भी काफी धक्का लगा लेकिन गांधी जी अपने निश्चय पर दृढ़ रहे उन्होंने सभी से अहिंसा के ही मार्ग को अपनाने की अपील की उस समय के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय नेताजी सुभाष बोस और मोतीलाल नेहरू उस समय जेल में थे अपना क्रोध लाला लाजपत राय ने गांधी जी को पत्र लिखकर प्रकट किया असहयोग आंदोलन के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी फिरंगी सरकार ने हम पर अत्याचार किए हमारी माओं और बहनों की इज्जत लूटी गई और अब आप आंदोलन वापस लेकर जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा चौरी चौरा में जो हुआ जनता पर किए गए अत्याचारों का वो सौवा हिस्सा भी नहीं है ऐसे समय में जब जनता में इतना जोश है तो आंदोलन को इस तरह बंद कर दिया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है नेताजी सुभाष बोस ने भी अपना विरोध एक पत्र लिखकर प्रकट किया ठीक उस समय जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं मैं समझता हूं गांधी जी को इस बारे में सोचना चाहिए मुसलमान समुदाय भी आंदोलन को वापस लेना विश्वासघात समझ बैठा परिणाम स्वरूप सभी समुदायों में निराशा पनपने लगी गांधी जी की आलोचना और कांग्रेस जनों की निराशाजनक स्थिति को देखकर सरकार ने स्थिति का फायदा उठाया और गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया सरकार की इस चाल से जनता चौंकी धीरे धीरे लोग गांधी जी की अहिंसा नीति को समझने लगे जनता ने अपनी भूल को माना और सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर एक अनोखी मिसाल पेश की